दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भग असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय असीम जय जयकार हो राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान નરસિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो असीम जय जयकार हो दादा असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद महाराज साहब के थोड़े दूर बैठो थोड़ा तो बस बस खूब आशीर्वाद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सत्यचित आनंद जय सच्चिदानंद हेलो ये आज सभी के लिए है कल तक तो हिंदी भाषी के लिए के होते है था और आज कितने साल से पाँच सात साल से आप तो पुत्र आपके साथ होता है ना कितना साल से पाँच चार पाँच आज पाँचवा है ये चौथा है बोलो अभी वो जीवन का उन्हें मकसद ही बना दिया है इस मकसद लेकिन वो हो गई लो अगले साल 27 मार्च से 31 मार्च हिंदी भाषी सभी नाटा परिवार और पंजाब से लेकर सारा भारत में जहाँ जहाँ फैले हुए सभी आएंगे अब मेरे ख्याल में पांच सात स्टेट वाले आज आए हैं एक आता है तो पूरा स्टेट आता है समझने की बात है सत्संग संख्या से नहीं होता संख्या की बढ़ोती से सत्संग नहीं होता एक हुए और थोड़े हुए उसमें ऐसा नहीं देखा जाता सत्संग हमेशा सत्संगी होता है जो भी इकट्ठे हुए हैं वो सभी एक ही स्वभाव के हैं जो हमेरा पाया हुआ सत को हमें ये असत वाला शरीर को सत माना था उसमें हम जी जाए बस सत स्वरूप से और ऐसा संग ऐसे लोगों की ऐसी इकट्ठा होना यहाँ वो बड़ी महासभा बोली जाती है भाई बच्चा तो थोड़ा खर्च थोड़ा अपना विनय रखना है उनसे हाँ हाँ ऐसा करो हाँ? महाराज साहब है ना देखो बचपन में उन्होंने ऐसा लिया है बच्चों ने भेजा हिंदी हिंदी वाले बच्चे ने किसी ने तेरा आजा आजा तेरा है ना तीनों का अब तीनों यहाँ बैठ जाओ बस बस आशीर्वाद यहाँ बैठ जाओ नीचे नीचे नीचे नीचे तू बच्चे को साथ में बैठाओ चलो तू बड़ा है तो ऊपर बैठ जा चल बड़ा को ऊपर खड़ा रहो अभी क्या नाम है तेरा पूजा तेरा नाम क्या दिया और तू ईशा तीनों का नाम कितना अच्छा है कितना अच्छा ईशा शक्ति वाली हम्म दिया मंजे प्रकाश देने वाली और पूजा वो तो बड़ी अच्छी बात है प्रकाश में पूजा हाँ? तो उन्होंने बनाया है और दिया है उनके अपने हाथों से बनाया है ये सब और उसके अंदर उन्हें लिखा है आपका आपका लिखा हुआ है ना पूजा का पूज्य दादाजी आपको वंदन नमस्कार जय सच्चिदानंद पूजा दिया ईशा नाई ना नाहट उनका भाई नाता नाता हाँ नाता हे दादा भगवान हम किसी को दुख न दे और जगत कल्याण कर सके ऐसी हमें शक्ति दे ये उनका सुख ये तेरा सारा जीवन का बड़ी होगी हुँ? हम्म? सारा जीवन में तेरा जीवन का सूत्र बना देना मोटो इंग्लिश में समझती है मोटो सभी समझते हैं उसका मोटो बना देना जीवन का बनाएंगे ना हाँ तो समझा एक ही उससे ही चलता है हमारा जीवन समझ हुँ? हम्म? क्या नाम तेरा है हाँ? आनंद अनंत अनंत हाँ, ये ये यहाँ का यहाँ का है ये सब अच्छा है लड़कियों में ही दिखाई देता है तेरे में ही दिखाई देता है इन लोग के साथ सत्संग किया था ईशा दिया तो उनको मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा बहुत आता है मगर उन्होंने कल कहा कि हमसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा हम हम पर गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनमें से हम सीख गए <laughs> मम्मी पापा को पूजा कितना भी गुस्सा करे कितना भी डांटे हमें देखना नहीं है क्योंकि हमारे मम्मी पापा है मम्मी पापा है तो हम है तो हम है तो हमारा जीवन का मकसद तो समझ समझना पड़ेगा ने इतना करो बाकी का जो डांटे करे अरे भाई क्यों तेरा क्या बिगाड़ा है वो सब बात कर सकते हो आप मम्मी पापा के साथ लेकिन मम्मी तू डांटती है तो जरा मुझे बहुत दुख होता है लेकिन मेरी गलतियाँ हो तो ज़रूर डांटना ऐसा उसको राइट देना उसको हुँ? हम्म? उसको उसके पास कोई राइट नहीं देंगे क्या करेंगे हुँ? उनसे जन्म पाया है हमने हम्म? समझे ना वो संसार में जीने के लिए सर्वप्रथम मम्मी पप्पा ही है हुँ? हम्म, मम्मी पप्पा है और मम्मी खास करके कोई पप्पा मम्मी बोलता है कि मम्मी पप्पा बोलता है हैं मम्मी पापा मम्मी नहीं ऐसा व्यवहार चलता है कि नहीं <laughs> समझना है समझना है हम्म, आप तो पुत्रो भारत में नारी तत्व को कहीं कई सालों से दायकाओं से हजारों साल से वो नारी तत्व दबा हुआ है उनके पास बहुत शक्तियां हैं लेकिन आज का कलयुग है कलयुग का समय है बहुत संभालने का समय है एक एक पाँव जीवन में रख के ये पाँव नहीं बोलते जीव श्वास का चलते हैं उसको एक एक संभाल के चलना है और दादा भगवान ने अच्छी ढंग से समझाया अच्छी ढंग से समझाया आप लोग बच्चे हैं सभी को बड़े को सभी के लिए कि जीवन कैसा जिएंगे आप हम ऐसा नहीं बोलते हम जैसा जीवन जिए ऐसा आप जीवो कोई सबका शरीर अलग है ऐसा कैसा बोल सकेगा लेकिन हमारी जो रीत है जीने की वो हमें आपको हाथ में दे दी है सबको और सारा जगत के लिए खुली कर दी है दादा भगवान बचपन से आपके सर के बचपन से ऐसे जिए समझी तो एकदम तो नया नहीं आया न आगे था अभी है सभी जगह ऋषभदेव दादा से लेके महावीर भगवान तक और पीछे ये काल में आ गए अपने हमने अब अब हम ही सभी लोग के लिए बोलो उनका भाव था इसलिए आना पड़ा भाव था भाव परिपूर्ण होता नहीं वहाँ तक ये द्रव्य प्राप्त होता ही रहता है द्रव्य मेरा शरीर जीवन भाव पर तो भाव मुख्य है तो हमें तो इस शुद्धात्मा पद प्राप्त करने के लिए जो कायम का है न जन्म लेता न मरण होता उसका ऐसा समझे तो जाओ आपका मेरा आशीर्वाद है बड़ा अच्छा है उसको जीवन का मोटर तीन बना दो सब चार बना दो सभी के पास एक एक जाना चाहिए हाँ कॉपी करो कुछ से भी करो जाओ लो जाओ आशीर्वाद अब आज तो सामान्य सत्संग सभा है फिर भी ये नाता फैमिली और समस्त हिंदी परिवार हिंदी भाषी सब सभी देशों के जो इकट्ठे है या आज सत्संग के लिए चार चार दिन से तो अब हिंदी में बोले चलेगा नहीं गुजराती सब आए हैं ये तो चलेगा वो तो हो जाएगा वो सभी के लिए अपने कोई वो तो उस खास करके है उसकी तो शुरुआत है उसको शुरुआत में बहुत आनंद आता है सब उपशम हो जाता है ना ज्ञानी पुरुष वो क्रिया से उपशम नहीं करते हम्म? वो बिना सत्ता वाले अपनी सत्ता से उपशम होता है सामने वाले को जो सत्ता का वापर जिसके पास नहीं है वो सर्व सत्ताधारी है सत्ता का वापर नहीं है शरीर मनुष्य मिला है फिर भी समझे ना अपनी स्वसत्ता बोली जाती है शरीर की पर सत्ता बोली जाती है समझे कि नहीं ऐसा शरीर का स्वदेश बोला जाता है कल ज्ञान विधि में बैठे हुए सब सुनते हैं ना कि नहीं सुनते ज्ञान विधि में बैठे हुए हाथ ऊंचा करे सब कल सुना, सुनाई पड़ता है ना सबको सुनाई पड़ता है कल हाँ? वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ यार अच्छा आवाज तो निकलता है थोड़ा ज्यादा करो पड़गाना पड़े पास थोड़ा बदा नहीं कर इसमें अभी आता है हाँ तो कल ज्ञान विधि में जो आप बैठे थे सभी नाटा फैमिली के दूसरा श्रीपाल क्या कौन नाता फैमिली और दूसरा दो था ही देखो लिखा था बाजू में क्या लिखा है सूर्या जी वाले नाटा फैमिली और सूर्या जी वाले बाकी के अलवर के क्या और पीछे कहीं कहीं से राजस्थान जयपुर से जोधपुर से पूना सतारा ये सभी के गए और आपका पुत्र वहाँ बहुत गए सब जगह जाते हैं वो तो सब जगह बैठे नहीं रहते कोई भी इसलिए हमें हम इतने भाग्यशाली है कि ऐसा लाभ हमें मिलता रहता है सत्संग का तो अभी ये सत्संग का चिट्ठी आई है उसका सत्संग करें साहब लेकिन सत्संग के शुरुआत के आगे एक हमारे वडिल महात्मा बहन उनका कल कल देहांत हुआ ना कल समाधि मरण हुआ हॉस्पिटल में अच्छी ढंग से हुआ और पीछे घर घर पर लाए बड़ा अच्छा जूना फैमिली है जूना महात्मा है दादा उनके वहाँ जाके उनके बंगले पर जाके खूब सत्संग किया है बड़ोदे में है वो रमेश भाई थक्कर करके ये उनके धर्म पत्नी कांताबेन तो उनका देह निधन हुआ कल अभी आपता पुत्र जगदीश भाई और थोड़े अपना संगपति यहाँ के जाके आए और प्रेम से सभी विधि विधि करके आए और अभी वो निकलेंगे बड़ा परिवार है बड़ा बड़ा परिवार तो उन परिवार में बहुत लोग आएंगे तो उनके कल्याण के लिए हम दो मिनट उनकी समाधि मरण के लिए उनके लिए प्रार्थना करें कि कल्याण तो हो गया है लेकिन कल्याण के पथ पर वो शीघ्रातिशीघ्र खुद का कल्याण पा सके और दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं शासन देवी देवियों को उन उनसे जहाँ है वहाँ शक्ति प्रदान करें इसी प्रार्थना दो मिनट के मौन करके करो सब अब के अंदर कांताबेन नाम है उनका हाँ जय सच्चिदान जय सच्चिदान तो अभी ये सत्संग है लेते हैं ठीक है ધીરુભાઈ गाठानी अपने अहमदाबाद के वडिल महात्मा आए हैं खड़े होकर सबका दर्शन करके आपता पुत्रों का और पीछे वडिलों का सभी महात्मा का आशीर्वाद तो ले लो आपके उसके आपके खुद के लिए जानना है सबको पूछा है तो सबको काम में लगेगा सब ऐसा नहीं है ऐसा ही है ऐसा बहुत अब अब अब जैन है कि क्या है मैं तो अभी वितराक पुरुषार्थ से वितराक पद पाया हुआ हाँ। एक अंदर का अंदर का जीता हुआ महात्मा अर्थात छोटे में से छोटे का जिसे जीतना वाला ऐसा है मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए मुझे खेवना करे मान करे ये मुझे नहीं चाहिए ये समझ में पूरा आ गया ऐसा बोलते आप जी हाँ अभी पिंजरे से पंखी पोपट निकल गया है फिर भी पिंजरा हाजिर है तो पिंजरे में मैं जेल है उसको जेल में भी मैं स्वतंत्र जीवन जी सकता हूँ जेल वाले कोई नहीं बोल पाएंगे ऐसे ऐसा आपको क्या है क्या लाए हो ये सब पढ़ू गया मैं गुजराती में गुजराती में लिखा वो गया तो पढ़ेंगे हाँ।, हाँ, लेकिन ये सब जो है ना बहुत जोर से बोलो जोर आपके सत्संग का जो जो भी मैंने पढ़ा हुआ है आ, हाँ। उसका ये अर्क है अच्छा ठीक है तो उसका जो अर्क में से आपको विश्लेषण करके हमें बरोबर सही ढंग से हाँ। समझाना है विशेषता से प्लीज समझ हमें प्राप्त होती है ज्ञान हमें हमेरा आत्मस्वरूप का हमें प्राप्त किया हो किया है और जिन्होंने आगे से प्राप्त किया उनकी तो कहीं समझ निकल गई और कहीं प्रगति हो गई आज आगे के मार्ग पर है तो ये सभी के लिए एक ज्ञान एक ही है ज्ञान एक ही है सभी के लिए हमेरा शरीर अलग है अलग शरीर अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद हम एक ही स्वभाव से जी सकते हैं और शरीर और शरीर का जो स्वभाव है वो भी हकीकत में अलग शरीर होते हुए भी एक ही स्वभाव का है एक एक केवल एक स्वभाव का है लेकिन उसको केवल एक स्वभाव से समझने के लिए हम एक दूसरे के साथ सत्संग करते हैं एक दूसरे के साथ इसी ढंग से हम इकट्ठे होते हैं ये शरीर अर्थात पुद्गल एक ही स्वभाव का है इतनी समझ पक्की कर लेने के लिए हमें अंदर कि जिसके कारण ये पुद्गल की अनेक अनंत प्रकार की विविधता है कई कई प्रकार की महात्मा तो है महात्मा तो आनंद से समय निकल जाता है लेकिन बाहर कभी भी कहाँ भी जाओ आप हुँ? हम्म, आप किसी को लाभ दे नहीं सकते लेकिन आपसे आपका ईसान जीवन जो जाता है उससे सभी को अंदर से लाभ हो जाता है कोई मुँह से बोल नहीं पाएगा दोनों पक्ष में से कोई भी नहीं समझे ये भारत वर्ष का मानव जीवन का सार है मानव जीवन का सार है शरीर तो मफत में मिल गया है लेकिन मफत में मिली वस्तु बहुत कीमती होती है ऐसा दादा भगवान ने बताया है अब तो पुत्र बताते हैं सब अब मफत कोई नहीं लेते नहीं आपको क्या चाहिए बिहारी आनंद जी तो थोड़ा बताओ अच्छा लगे कोई अच्छा अच्छा अच्छा लगे ऐसा करे तो अच्छा लगता है ना नहीं अब तो अंदर ऐसा रहता है कि जो भी आए आ, हाँ। उसका संभव से आ, हाँ। निकाल करना है हाँ सबसे बड़ी बात कही हाँ ये सारा जन्म इसीलिए मिला है जानते नहीं थे लेकिन ज्ञान मिला मिला पर पांच आज्ञा पांच महाव्रत स्वरूप मिल गई ये काल में संसार में महाव्रत स्वरूप आज्ञा बाहर बोल नहीं पाएंगे कोई स्वीकार नहीं करेगा आपका कोई भी नहीं करेगा तो पांच आज्ञा धर्म वीर भगवान की संयमधारियों को दी हुई पांच महाव्रत ये सारे सभी समस्त मनुष्य समाज को जो व्यवहार में है घर में संबंधों के साथ है उनके लिए ये है महावीर भगवान ने उनके समय दी थी उनके समय दी थी लेकिन व्यवहार है संसार है इसीलिए इतनी चुस्तता से हुँ? हम्म, और इतना निश्चय बल से पांच महाव्रत नहीं हो सकते हैं और आज के काल में पंचम वकार है वहाँ वो शरीर का बल ही आज नष्ट हो गया है मन मजबूत होता है तो वाणी में कुछ कि शक्ति आती है पावर आता है तो वाणी की प्रभाव असर पड़ती है अगर लेकिन आज की वाणी में भी आज दम नहीं रहा है हमसे जो वाणी का व्यवहार होता है हम घर से ही देखे खुद के साथ देखे इसी में रहे हैं खुद के साथ पहला शुरुआत तो शरीर से ही होती है पीछे घर में आती है और घर वालों के साथ रहते हैं सबसे महत्व की सिद्धांतिक बाबत बताई और महावीर भगवान ने यही बताया था और महावीर भगवान की आज्ञाएं इसी ढंग से थी संयम के लिए और संसारियों के लिए दोनों एक ही ढंग थी लेकिन दोनों की दोनों के प्रकार से देनी पड़ती है हुँ? हम्म? तो महाराज साहब ये पांच आज्ञा में आज ये काल चिकट वाली जब भूमिका है बहुत संभाल के संभाल के चलना है अगर ऐसे अच्छी न चिकट वाली भूमि में चले ऐसा वहाँ चलने आएंगे तो समझो अपना मानी हुई शक्ति है थोड़े एक दो पग रखेंगे तीसरे पग में सरक जाएंगे इसीलिए पांच आज्ञा है तो पांच आज्ञा से चिकट वाला मार्ग में भी ये काल में भी हम मुक्त रह सकते हैं हम्म? हमें चिकट वाली जगह में जगह बहुत संभाल के पाँव रखना है और ये अंगूठा आंगली है ना वो जी दबा के रखनी पड़ती है तो उसका सपोर्ट मिलता है चिकन से फिसक नहीं जाते बहुत जरूरी है पांच आज्ञा समझाती है और ये फाइल है तो फाइल का मतलब ही एक है कि उसका निकाल करना इस ढंग से कि न हमसे देनी बाकी रहे और न कुछ नया लिया जाए क्या बता, क्या बताया बोलो न कुछ नया लिया जाए और जो लिया हुआ था वो सब पेमेंट हो जाए पेमेंट हो जाए इसीलिए हमें तो शुरू से आज चौपन पंच हो गए दादा से घर में थे फिर भी मालूम हो गया कि कनु भाई तू है और तू तेरे साथ तू ही है समझ ले अभी तू सभी व्यवहार में आएगा लेकिन तू तू रहेगा लेकिन वो सभी व्यवहार में तेरे साथ तू है वो सही ढंग से आपको रखेगा व्यवहार नहीं रहने देगा इसीलिए फाइलों का संभव निकाल क्या बताया दीपक भाई कहाँ गए बैठे हैं दीपक भाई शाह है ना गया चेक नहीं मिनरल बेन अच्छा ચાલો कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ आपने अब हमें स्वरूप ज्ञान पाया है पांच आज्ञा है वो मुक्त जीवन जीने दे ऐसी उसमें व्यवस्था है सैद्धांतिक सैद्धांतिक व्यवस्था है लेकिन एक काल के मनुष्यों में कितने अच्छे मनुष्य लेकिन जीना नहीं आता इसीलिए आज इतने सादा शब्दों में रखी गई लेकिन उसके पीछे इतना बल है इतना बहुत बल है बहुत बल है जितनी आज्ञा हमसे पचन हुई इसी प्रपोर्शन से इसी अंशों में हमारी अंदर की शक्ति खिलती है शुद्ध आत्मा की अनंत शक्तियाँ है खुलती शक्तियाँ खिलती है सही ढंग से दिखाई देता है और जो सही ढंग से दिखाया समझ में आ जाता है वापस हाँ कि भाई ये दृश्य है ये ज्ञेय है दृश्य बिना देखे वो ज्ञेय स्वरूप से आपके ज्ञान में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा और रिफ्लेक्ट होते ही हम उनके जानने वाले हैं तो जानने वाले का वो क्रिया है इतनी मंद हो जाएगी स्वभाव वाली हो जाएगी अपने आप से वो तो थी लेकिन अभी खुली होती जाती है खुली होती जाती है जानने की और वो खुली होते होते होते तो देखते देखते देखते देखते सारा व्यवहार को बिना देखे कोई जाना नहीं कोई कोई जान नहीं सकता नहीं कुछ भी खुद को भी नहीं खुद का शरीर को नहीं और खुद के स्वभाव को भी नहीं देखना ही तो देखना बोले दर्शन शक्ति से देखना होता है शुद्धात्मा की अनंत दर्शन शक्ति है वो दर्शन स्वभाव से क्रियावर्ती शक्ति है लेकिन पुद्गल की क्रिया से नहीं है वो इसीलिए शरीर को बताया कि भाई व्यवहार दृष्टि से आज्ञा में रखा गया क्योंकि आज का व्यवहार हमें ये शुद्धात्मा की दृष्टि से रहने नहीं देने वाला हलाने वाला है ऐसा ऐसा करने वाला है बहुत कुछ इसीलिए व्यवहार दृष्टि है क्यों कि हमने हमारा स्वरूप ज्ञान पाया है निश्चय दृष्टि प्राप्त कर ली है निश्चय दृष्टि के साथ रहने वाला बाका शरीर रहा उसको ही माहिर भगवान ने तीर्थंकर भगवंतों ने व्यवहार बताया वहाँ व्यवहार की शुरुआत होती है बाकी का जो हम मानते थे व्यवहार को वो लोक व्यवहार को ही हमें असल व्यवहार मान लेते थे क्या बताया लोक व्यवहार को असल मान और ये ज्ञानियों का वितरकों का जीने का तरीका है और वो व्यवहार है वो इसी को दरअसल व्यवहार समझाया तो हमें तो शुरुआत हुई उसकी तो अभी व्यवहार क्या है आहिस्ता आहिस्ते समझ में आता जाएगा व्यवहार तो कितना छोटा है कितना छोटा है है मन तो कितना छोटा है तो कैसे हैरान कर सकता है अरे बोलो ना कोई मन ज्यादा हैरान करता है कि वाणी वाणी <laughs> कच्चापन मन का कच्चापन से वाणी कच्ची होती है एक गड़बड़ है हमेरी ये मन वचन काया तीन लकड़ियां हैं आज अलग अलग हो गई है और अलग होने किसी कोई भी आपका मन को हला सकता है आपका वाणी को कोई भी छेद कर सकता है और आपका व्यवहार को कितना भी सारा जगत प्रशंसा करे ऐसा करो तो भी कोई ऐसे रहने नहीं देगा आपको सबके साथ तो रहना है ऐसा मनुष्य कोई जन्म नहीं पाया बहन हो या भाई कोई भी कि अकेला सारा जीवन में जन्म पाते ही अकेलेपन से रहा आज तक नहीं हुआ वो आज तक नहीं हुआ ये तो बुद्धि से भी समझी जा रही बात है आज तक भी सोच ले मनुष्य और मनुष्य तो मनुष्य के लिए बताया और भारतवर्ष के और भारतवर्ष के इसके लिए उसका इतना ही सीमा नहीं है उनकी सीमा तो सारा विश्व की है इतनी भी हमें शुद्धात्मक दृष्टि जो प्राप्त हुई ऐसी विशाल अमर्याद दृष्टि प्राप्त हो गई जिसे कोई मर्यादा नहीं है और ये चक्षु व्यवहार के चर्म चक्षु है वो तो मर्यादा में है और मर्यादा में हमें कितनी दिक्कत आती है हमें आंखों दिखाती है उसमें हम देखते हैं नहीं बोल पाते बोल पाएंगे अरे बोल तो बोलो हा के ना तो बोलो बोलो हा के ना हाँ? ताकत है शक्ति है ना हाथ पाँव है सब कुछ मत्था है इसीलिए तो मत्थे ना पंदर क्या शु कैसे मत्थेन भी तो मुझे मत्थेन भी के वो तो अच्छी बात है भारत के संस्कार है ये भूमि में ये संस्कार वाली भूमि में सारा भारत सारा भारत कोई भी कुणा हो संस्कार वाली भूमि है लेकिन ये संस्कार में कलयुग में ऐसा विचित्र काल में सभी विचित्रताओं से भरा हुआ काल है उसमें दादा भगवान का हाजिर होना ये ये पटेल के शरीर के माध्यम से बहुत बड़ी घटना बनी बहुत बड़ी वो उनके स्वाद के लिए उनके यहाँ प्रागट्य हुई क्यों कि उनको भावना थी कि इतना ये वितराग पुरुषों का ज्ञान कितना अच्छा है लेकिन ये चलते चलते वर्ग में जो मुख्य मार्ग बताया गया है मोक्ष मार्ग का उसमें जो संयमियों हैं वो समझते हैं कि संसारियों बेचारे हैं उसको संसार है क्या करे बेचारे तो उसको इस ढंग से बोध देते हैं हम्म? और वितरागों ने ऐसा नहीं कहा तो आज के हमारे जैन समाज में भी ये बात संघ में अच्छी ढंग से प्रसार पा में बड़ी ज़रूरीत है तो आपका संयम मार्ग उसमें कुछ बरकत आएगी क्या हिंदी में बरकत को क्या बोले यही बहुत बड़ा शब्द है बहुत बड़ा शब्द है हम्म। आप समझे जी कौन क्या बोलते हैं तरक्की आए बरकत बड़ा अच्छा शब्द है हाँ? उर्दू में भी चलता है गुजराती सब जगह बरकत मेरा सत्व तरक्की अलग बात है तरक्की आगे प्रगति करनी उसको बोलते हैं और बरकत को सत्व बोलते हैं सत्व ये जीवन सत्वहीन हो गया है उसमें अंदर से जीते जीते हमें में वो सारा सत्व आज तीनों मन से वचन से और काय से जो हम आज्ञा धर्म पालन हमारे से होती है हमारे ही जीवन में खुद में और सभी व्यवहारों के साथ घर में सभी और खुद के ऐसे जीवन चली जाती है वो यूनिटी वाली चली जाती है तो अंदर ये मन वाणी काय का सर्जन तो होना ही है क्योंकि वो पंचम काल है पंचम काल में आत्यंतिक मुक्ति नहीं लेकिन आत्यंतिक मुक्ति की वो शुरुआत और स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं हम शुद्धात्मा और आत्मा मुक्त होती है ऐसी बात ही नहीं पितरागो ने बताया है ज्ञानी ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कभी नहीं हुई तो मुक्ति की कहां से आई तो के अहंकार मुक्त होता है क्या बताया बोलो आपके समझ में आया हा? जो मैं मान मानता हुआ मारा माना हुआ जीव हूं मैं था वो बेना मेरापन की सुदे साथ में शादीशुदा हो, होने से नहीं रह पाता अकेला नहीं रह पाता हूँ उसके शादी साथ होना ही चाहिए शादी होनी चाहिए मेरेपन से लेकिन मेरेपन से शादी हुई ऐसा मेरापन ये मुझे हूँ माना हुआ मुंह को भटकाता है मैं और मेरा अरे वाह न मैं न मेरा हमें छुड़वाता है जैसे हमें बंधे गए थे ऐसे उल्टे स्वभाव से ही हम छूट सकते हैं और इस ढंग से जीना जी सकते हैं जीवन समझ में आया हुँ? हम्म। और लेकिन आज की बुद्धि है मन है सब है आज के कलयुग के स्वभाव के उसमें जो ऐसे बंधे गए थे हम तो यही प्रकार से छूटते हैं लेकिन आज सीधा होने की कोशिश हो रही है सारे जीवन में कि हम व्यवहार में सीधा जीना ही चाहिए वो समाज की भाषा है समाज की भाषा गलत नहीं है उसको स्वीकार करनी ही होगी नहीं तो मार खाएंगे हम खुद खूब मार खाएंगे समाज तो समाज ही है हमेशा का है हमेशा है हमेशा का है वो तो क्यों कि मानव समाज है नहीं भारत में है ना संस्कार वाला देश है वो जानते हैं कि जमीन जन्म और शरीर बंधा हुआ आया है तो उसको मुक्ति पाना है लेकिन इस ढंग से सही समझ से नहीं जानते हुँ? हम्म? ऐसी मिथ्या समझ है फिर भी ये भारत का देश है उनका संस्कार है इसके कारण ऐसा है तो मिथ्या हमेरी मान्यताओं मिथ्या मूढ़ दृष्टि और इसीलिए भ्रांति जीवन जीते हम जीते जीते जीते करते जाते हैं वो भ्रांति से मुक्त पाते हैं और जो समर्पण विधि आप करते हैं तभी आप आपकी भ्रांति को रख सक दे ज्ञानी के चरणों में रख देते हैं भ्रांति किसको पसंद है बोलो भ्रांति समझते हो शरीर अनकॉन्शियस बेभान हो जाता है वो बेभानता होते तो भ्रांति को जीते जीते जिए जाते हो सब बेभानता से ही जिए जाते हैं बेभानता से एक ही चीज है लेकिन भक्ति का प्रसाद इस ढंग से लिया अपना माना हुआ भक्ति का प्रकार इस प्रकार भक्ति गलत नहीं है भक्ति होनी ही है लेकिन उससे हमें प्रसाद जिस जिसकी भक्ति करते रखते हैं वही प्रसाद ले लेते हैं शिव धर्मियों शिव शिव की प्रगति करते हैं लेकिन शिव धर्म में तो खास करके है साधु सन्यासी सभी को प्रसाद लेना प्रभु को देना लेने के लिए लेने के लिए वो लौकिक भक्ति जरूर है भक्ति का गलत नहीं होती कभी भी लेकिन भक्ति क्या किसकी है ये बात है ये बात है हुँ? हम्म? तो आज भी ये प्रथा तो चालू ही है महाशिवरात्रि उनके प्रसाद नहीं लेते हैं हाँ? ताराचंद जी शिव जी का प्रसाद नहीं लेते आप अरे बहनों ही लेती है भाई सब कुछ लेते हैं कहीं जो थोड़ा ज़्यादा लिया गया तो क्या होता है एक तो चीज़ एक ही है तो दो दिखाई देते हैं हमें हाँ ये आज्ञा धर्म उससे मुक्त करवाया है और आज्ञा धर्म ऐसा जो एक है एक ही दिखाई पड़ेगी आपको व्यवहार है मन वचन का है सबका है उसमें एक ही दिखाई पड़ेगी आहिस्ते आहिस्ते बनता है उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं चलती जैसा अपना जीवन श्वास श्वसन क्रिया से चलता रहता है उसमें गड़बड़ कर कोई कर नहीं पाता ये कल बहन महात्मा की समाधि मरण हुई उसमें श्वसन क्रिया की हमेशा उम्र होती है तो होता ही जाए वो तो हमें हमेशा हुँ? हम्म? अपने हाथ में होती तो नहीं होने देते कोई ये जीवन है वेदांत में उपनिषदों में सभी प्रकार के धर्म पुस्तकों में श्वास सारा जीवन में एक सीमित संख्या में आया है क्या बताया सीमित संख्या में आए हैं तो ये श्वसन क्रिया का श्वास कैसा चलता है उसके पर आयु निर्भर है ज्योतिष बोलेंगे आपके जन्माक्षर में ऐसा लिखा गया है आप तो लंबी आयुष तो है कितनी वर्ष कोई नहीं बता पाएगा हो सकती है लंबी आयुष तो है जरूर है लेकिन यहाँ कुछ भंग होता है आयुष का वहाँ थोड़ा संभाल लेना चाहिए ऐसा लेकिन वो बिना पैसा लिए कोई बताता नहीं कोई नहीं बताता जैसा घरा कैसा पैसा हुँ? हम्म? तो हमेरी एक घर में है घर तो ऐसी दुकान है हमारी सबकी इकट्ठे हुए हुई हमेरे कर्म जो कर्म से गठड़ी ले के आए हैं वो खपी जाए संभाव से निकाल होते होते होते होते संभाव से निकाल कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं निकलती है जल्दी तो उसके लेकर ने जो पसंद वाली की सबको है ना सबको ऐसी थोड़ी रखनी पड़ती है खाण सबको जरूर है साकर मीठा थोड़े में लेते हैं फिर भी जबू सबको है तो ऐसे एक ऐसी दो चीज़ रखनी पड़ती है तो वो लेने आए तो दूसरा देखे अरे ये अच्छा है ये क्या है ये क्या ले लो अच्छा है तो उसका भाव ज़्यादा होता है दूसरे को सामने को हमारे अंदर हमारे जीवन के अंदर हमें उसको पसंद लगे ऐसी चीज़ लगे तो हमें वो चीज़ जल्दी खपे इसके लिए ललचाओते नहीं किसी को लालच नहीं देते लेकिन हमारे खाते हमारे दुकान में थोड़ा माल इसलिए आज्ञाधर्म है भक्ति है सब कुछ है अंदर तैयार होता ही है बाहर तो उनका जरूर है दादा भगवान का जीवन ऐसा गया हम्म? ये बंगार का व्यापारियों की दुनिया में उनको आना पड़ा तो सबका बंगार बंगार उसको पसंद आ गया ये यही मेरा और उसके आगे मैं कुछ नहीं लूँगा सबका बंगार किसी को बंगार पसंद होता है अरे बोलो नहीं किसी को तो निकाल निकालो एक अच्छा जुरा जमाना का रुपया आज भी आज रुपया का सिक्का है तो वो इतना हो गया तो उसकी आवाज़ ही नहीं आती गुजराती में बांदा बोलते हैं बांदा आप क्या बोलेंगे तो चलन में नहीं चलेगा वो भिखारी को देना है तो पहला वही निकाल के देंगे पर वो बोलता है साहब सच्चा दो ने नहीं कोई नहीं गया ऐसा घूमता घूमता फिरता है तो कोई रहता है ना मेरे से खिस्से में पड़ा ही रहता है बाकी है तो कहीं अब कहाँ डाले तो कि ये भगवान का कर बड़ा अच्छा है उनके पर डाल दो सबसे अच्छा है क्यों कि कोई प्रतिभाव ही नहीं देते भगवान तो जब जो है तो वो यहाँ हजम हो गई तो भगवान के चरणों में सिक्का जमा हो जाते हैं ऐसे हमेरा स्वरूप ज्ञान मिला है तो हमेरा वहाँ से नापसंद वाला ही निकल जाएगा और पसंद वाला भी निकल जाएगा कोई शिलक नहीं बचेगी निशेष बोलते हैं उसको ऐसी मानव जीवन हमेरी इस स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो उसके ढंग से पांच आज्ञा के अनुरूप जीना हमारी जिम्मेदारी आ गई क्यों कि अभी हम ये कुदरत है कर्म व शरीर है और कुदरत तो सबको जिलाती है उसमें सबके लिए हमारी दृष्टि की विशालता इतनी होनी चाहिए निश्चय शुद्धात्मा की क्यों विशालता के कारण व्यवहार की सीमा वाली दृष्टि है वो भी विशाल हो जावे उस दृष्टि में सभी समा जावे हुँ? और दादा भगवान ने उसको लघुता दृष्टि में लघुता बताया इसीलिए व्यवहार दृष्टि में हमारे अंदर जो जो गुरुता कर्म स्वरूप से थी और आज हमें इस ढंग से हमें हल्कापन से रहना बहुत चाहते हैं रहने नहीं देती हमें कोई भी मिले हम पसंद वाला मिले नापसंद वाला वो हकीकत में उपकार करने आया है फिर भी उसका उपकार मेरे समझ में नहीं आता तो शरीर शरीर से जीना तो अंदर से जीना है पूरा अंदर से और बाहर होता है तो हाँ बात करते ऐसा है लेकिन जो आगे का अध्यास हो गया था और जीवन में सभी इकट्ठा जमा हो गई थी शरीर में कर्म की व्यवस्था वो आपको ऐसे रखने जाएगी लेकिन हम उनका चलने नहीं देंगे वो पांच आज्ञा धर्म में दो दृष्टि है व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि निश्चय दृष्टि से हम चलने नहीं देंगे उसको उसके सामने नहीं होंगे फिर भी वो कुछ भी आवे तो हम हम खुद को ही डांटेंगे जो बाहर डांटने का स्वभाव था अभी वो दो बच्चे ने बताया कि मेरे माँ बाप हमें डांटते हैं बहुत वो तो सभी को अनुभव है दूसरों का डांटा हुआ किसी को पसंद नहीं आता बिहारी जी आप, आपको आता है हाँ तो कुछ हमें क्यों आवे <laughs> आपको नहीं आता है तो लेकिन दूसरा का डांटा हुआ मैं कितना धन्यभाग हो गया कि मुझे मुक्त होने का उससे ऐसे स्वभाव से अवसर मिल गया कितना वो अंदर से दिल में समझना है वो वाणी में बोलना भी नहीं कुछ नहीं वाणी तो बहुत दिक्कत वाली है बहुत तकलीफ है समझे वाणी बहुत जीववा आज की जीववा क्यों कि वो छोटे छोटी हड्डियों से बनी हुई है क्या बताया बहुत छोटी नहीं समझे हैं हाँ? कौन बोलता है बिना हड्डी के कोई शरीर का हम्म, कोई ऑर्गन होता है बिना हड्डी का कैसे चलेगा है? सच्ची बात है स्कूल में सिखाया था मालूम है <laughs> लेकिन दूसरे की हड्डियां भागती है दूसरे को भाग देती है दूसरे की हड्डियां नहीं भागती तू ना बोलती है <laughs> मैं किसी की हड्डियां नहीं भागती माई मैंने कौन तेरी स्पीच स्पीच तेरे स्पीच से किसी को दुख नहीं होता तो दुख हड्डी को पहुंचता है कि ये यहाँ हड्डी को पहुंचता है हड्डी जीवंत है हड्डी जीवंत है तभी ये शरीर जीवंत है नहीं तो क्या करेंगे हड्डी में सब है हम भरे हुए उसके अंदर तो क्या समझती हो तू ये के एक रज्जू है करोड़ बोलते हैं ना सब हड्डी है जीवंत है उसके अंदर है रस है सब कुछ है और यहाँ तो एक एक ये बाल तो बहुत जाड़ा है बहुत चाड़ा उसके भी बहुत छोटी सी ऐसी सब मेरा सारा ये मशीन में फरी हुई समझी कि नहीं आज की तुम्हारी मोबाइल है इंटरनेट उसमें तो सीमा वाली है यहाँ तो असीमित है क्या तू ट्रि, एक ट्रिलियन महीना कितना बता दे तू तो पढ़ी लिखी है ना कितना पढ़ी अच्छा तो बीकॉम वाली तो अच्छा जवाब दे सकती है एक ट्रिलियन महीना कितना trillion T R I double O है मिलियन महीना कितना बता हम्म। तुम बीकॉम हो गए तो ऐसे तो तेरे पास मिलियन रुपया हुआ तो अच्छा लगे कि लाख रुपया अच्छा लगे ये कर्म की संख्या को पैसा बोलते हैं कर्म कितने है अंदर शरीर में समझे ना अपने शरीर को चलाने का पैसा इसलिए कि पैसा का महत्व ज़्यादा आ गया शरीर से ये श्वसन श्वसन से भी ज़्यादा लगा इसीलिए शास्त्र में बताया को तो गलत नहीं है गलत नहीं है लेकिन हमें ऐसा जीना है हा? कौन हाँ जी तो चलेंगे चलेंगे फोन करेंगे आप अच्छा तो आप समझ गए सत्संग हमारे सत्ता से नहीं होता वाणी जितनी मुक्त मुक्ति पमती है वाणी मुक्त होती जाती है हमसे हमारी पकड़ में से छुट्टी हो जाती है और आगे से जो कर्म की रज लेके आए हैं वाणी के वो निकलती है और आज के ज्ञान से वो चेतन बनती बनती है क्या बताया वो चेतन अंदर नहीं जाता लेकिन वाणी चेतन बनती बनती है इसीलिए शास्त्रों में उसको देशना बताया तो हरेक महात्माओं के शुरुआत होती है लेकिन खुद के लिए होती है पीछे दूसरों के लिए काम में आवे तो खुद के लिए होते हुए सभी के साथ ऐसे जिए कि वो ये है ऐसा न लगे इतना उसके कारण इतना सब बाहर निकलती है जहां नजर लगे वहां वो खुद को ही दिखाई पड़ेगा वो शरीर से नहीं शरीर से नहीं समझ से समझ से समझ गया कि बाहर सब व्या, व्याप्त हो गया मेरा व्यवहार है बाहर भी निकल गया है जहां जाए वो जो व्यवहार में जो फाइल है उसको हिसाब में आता है उसका हिसाब में अकाउंट में आता है वो सब मेरा ही मेरे अकाउंट में आता है तो मैं सबके साथ ऐसा ही करता हूँ व्यवहार से नहीं करता अंदर से समझ से अंदर की अं, बात है जीवन ही अंदर का है समझे चलो ये तो हो गया अभी अभी आपने कोई पण क्रिया ना करना એ એક मिनट મિનિટ दो धीरू भाई ने जो पूछा है उसका अनुभव तो अनुभव रखा है यार अभी ज़्यादा सत्संग उसमें नहीं होगा आप समझ लेंगे वो पूछते हैं अब हम किसी भी क्रिया करने वाले नहीं है अर्थात हम शुद्ध आत्मा करना थे ही नहीं लेकिन मन वचन काया की उनसे बनती रहती क्रिया उनका जोनार देखने वाले होते हत रहा એટલે अब सर्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात पांच आज्ञा के दो दृष्टि के अनुसार करनार की क्रिया के की आज्ञा व्यवहार दृष्टि की है और जोने जोना जोने वाला जानने वाला की क्रिया वो शुद्धात्मा की है दोनों क्रिया तो है ही एक स्वभाव की क्रिया है और दूसरे पर स्वभाव की क्रिया है पर स्वभाव की क्रिया विनाशी तो है ही और स्व स्वभाव की क्रिया अविनाशी शाश्वत है शाश्वत समझे दोनों क्रिया तत्व होता ही नहीं तो जगत की अस्थि भी नहीं होती अपनी भी अस्थि नहीं हो सकती क्रिया तो है लेकिन वो क्रिया का महत्व भेद कहाँ है वो जान लेना है खुद के शरीर के जीवन में जान ही लेना चाहिए तो बरोबर है ठीक है इसलिए फाइलों का संभव निपटारा करना ये बहुत महत्व का बन जाता है मेरे क्योंकि हमारा खुद का व्यवहार इस शरीर में जुटा हुआ आया है इसीलिए फाइलों का संभालने का संयम मार्गी है महाराज साहब है तो उनको इस ढंग से करना है हम सब साथ में इस ढंग से करना है ये आपता पुत्र है वो भी ब्रह्मचारी है तो उनके ब्रह्मचर्य व्रत से करना है क्या ब्रह्मचर्य व्रत से समझे तो घर के संबंध से छुटो छुटकारा पा लिया लेकिन हमारे शरीर में भी हमारे ब्रह्मचर्य व्रत तो आज आज हुआ आज भी ऐसा जी रहे हैं लेकिन वो आया हुआ शरीर जी रहा है उसके साथ रहना ही पड़ेगा वहाँ महाव्रत की नज़दीक जावे भाषा में बहुत ज़रूर है बहुत ज़रूर है एक काल में खास करके और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है उससे ऐसा जीवन से तो मन वचन का है कि क्रिया का जो कराने वाला है वो व्यवस्थित शक्ति है और करनार है वो फाइल नंबर एक है ऐसा बोलते हैं वो तो समझ में आ गया सबको यही समझ मजबूत हो जाए उसके लिए आप बोलते हैं विगत से सत्संग करो तो ये आयुष कम पड़ेगा उसके लिए आज तो ये शरीर बूढ़ा हो गया है मैं नहीं हुआ मैं क्यों हूँ शरीर उसका धर्म से होता है होता है और सभी समझ गए हैं और जो आप पुत्र सभी जगह विहार करते हैं सत्संग के सत्संग के आत्मा के शुद्ध आत्मा के खाते में ही सब चला जाता है समझे ऐसा हमारा व्यवहार में रहते रहते ऐसा जीवन चला अंदर से जाना है हाँ? और बाहर से तो जैसा व्यवहार आएगा ऐसा उसके सामने ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा लेकिन जैसा व्यवहार करे वैस जैसा के तैसा वैसा हो ऐसा मत करो उनका व्यवहार करता है तो उसके सामने जो व्यवस्यम होना है वो तो होना है उसमें क्या हरकत है समझे ना इसीलिए तो नाटक का व्यवहार बताया उसको नाटक का व्यवहार नाटक ऐसा ही होता है नाटक सच्चा मान ही नहीं सका कोई तो वो व्यवहार है इसीलिए वो आज जिसको सच्चा माने थे हमें वो सच्चापन नहीं रहा उसमें सच्चापन तो मैं शुद्धात्मा हुआ हूँ और व्यवहार तो व्यवहार में है और वाणी से है और वाणी से व्यवहार होता है क्या तो शरीर से जो क्रियाएं होती और व्यवहार होता है वो हमारी वहाँ मान्यता थी मान्यता उठ के हम जो है दरअसल वो हम दरअसल के स्वभाव के व्यवहार में आ गए स्वभाव के व्यवहार को वितराग व्यवहार बोला जाता है ऐसी भाषा में उसको सिंगल ऐसा व्यवहार नहीं बोला जाता वितराग व्यवहार तो हमें वितरकता खुली होती जाए वितरक कहीं अंश जीने क्या ऐसी हमें राहत में आ गई है हम्म? तो ये सब दृढ़ीभूत करने में जीवन तो बहुत कम पड़ेगा छोटा सा है हुँ? हम्म? लेकिन जीने का तरीका जो है वो बहुत विस्तार हो सकता है हुँ? हम्म? ये छोटे सीमित जीवन में जय सच्चिदानंद दादा हाँ जी अभी जो 24 घंटे की कीर्तन भक्ति अभी अभी उसके निमंत्रक निमंत्रक निमंत्रक है महावीर जी वो पहले आ जावे जो ठीक है हरीश भाई निमंत्रक आओ महावीर जी आपकी वीर शक्ति अंदर से खुली हो गई है वीरता शरीर की नहीं होती वीरता शुद्धात्मा दृष्टि से जो जीवन जाता है उसकी होती है नबला शरीर हो फिर भी वो महावीर है हुँ? हम्म? तो आज महावीर भगवान जो वीरता से अंदर से शुद्धात्मा दृष्टि से वर्धमानता वर्धमान जी का शरीर था उसके सामने जी आ जाओ आ जाओ दूरदृष्टि व्यवहार दृष्टि से मैं महावीर निश्चय दृष्टि दरअसल मैं शुद्धात्मा महावीर वो दिन से जीना है हमें हम्म? किसी के बात नहीं करना है ये तो बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता हुआ है हम्म? अंदर से समझ के बस आनंद से दे जाओ चलो आगे चल हम्म। रखो आचे चल अच्छा। भाई सामने देखो परिवार के लोग आ जाओ तो चलो उनको बुला लो ना आ जाओ नीचे से फोटा लेके जाओ वहां देखो बुला लो सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई समय कम है प्रगट प्रभु स्वागत करो छु उनको दो चढ़ जाओ जल्दी कोई रहो पहले हार पहनाओ मधु जी पहले माला पहनाओ माला दो माला आइए ना હૈયો ધરું છું ચરણ કમળમાં હૈયો माने सौ संदेशा एक समय माँ पहुँचे प्रगटात्मा ने सौ संदेशा एक समय मा पहुँचे ચરણ કમળમાં હૈયું ધરું છું દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો असीम जय जयकार हो सभी भगवान ना सभी स्टेज पर से जयकार सभी स्टेज पर से नीचे एक के बाद एक उतर जाए स्टेज एक फोटो खींचने के बाद जल्दी से ही स्टेज से नीचे उतर जाना सभी निमंत्रकों को हम विनती करते हैं दादाजी की अनुकूलता देखकर सभी अपनी अपनी जगह पे चलो चलो यार हाँ। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना हाँ सिम जय जयकार दादाजी आप बैठ जाइए दादाजी सभी निमंत्रक परिवार अभी नीचे आ जाए हमें कीर्तन भक्ति की कीर्तन भक्ति की शुरुआत करना है कीर्तन भक्ति की शुरुआत करने के लिए निमंत्र परिवार अपनी जगह पे बैठ जाए दादाजी का लाभ मिल चुका है सभी अभी हमें कीर्तन भक्ति की शुरुआत करना है दादाजी साफा काढी लो साफो काढी लो आता तब साफा लो पहला पहला साफो काढलो ये शुद्धात्मा की शोभा है इतना ख्याल कर लीजिए ये शरीर की शोभा नहीं है हा? उनका प्रेम है भाव है तो हम बिना स्वीकार कहे पूरा स्वीकार कर लेते हैं जाओ केवल शुद्धात्मा हम्म, हम्म। અચ્છા ને આ લોકોને દર્શન કરવા છે आओ आओ एक एक आइन जवाब ऐसा ऐसा निकलते जाओ ऐसा करो वो आपका नेता फैमिली नाता फैमिली का बड़ा है तो अलग ढंग से करें हम ऐसा बोलते हैं मैंने कल से पहले अपने दादा भगवान समाधि अगर दवा दादा भगवान ज्ञान कुंज है ना वहाँ या समाधि दो जगह से कहाँ से एक एक जन का पूरा कर लेंगे अच्छी ढंग से फोटो आएगा बड़ी अच्छे ढंग से आपका सारा जीवन में उसको काम में लगेगा ऐसा हाँ हाँ अब ज्ञान कुंज में आ जाओ आगे बैठने की बैठक है ना मेरी वहाँ आ जाना आप तो पुत्र साहब भी आएंगे और सब एक हर एक का फोटो अच्छी ढंग से निकल जाएगा हम्म चलो अब वसीम जे जे करो नहीं બોલા ને પેલી પેલી વિધિ બોલાવું છું એ? હા હા હા अभी महात्माओं शांति से अपना स्थान पर बैठ जावे तो ये 24 घंटे की अखंड बोलते हैं जो कीर्तन भक्ति चालू होती है ये सभी आपता पुत्रों के निष्ठा में ये आज एक काल में बड़ा आश्चर्य बना है दादा भगवान की उनकी अस्थि में ही ये चालू हो गई थी बयासी के साल में बयासी के साल में और वहाँ से चालू है तब तक ये चलती है और सभी की भावना इतनी बढ़ गई है कि कभी ऑल्टरनेट हप, हफ्ते से जो होती थी अभी तो एक एक हफ्ते से कई ढंग से समस्या आई है ठीक है तो ये और एक हफ्ते में दो भी होती है दो जगह अलग अलग बोलो बांट जाते हैं और सब हो जाता है दो दो तीन तीन हफ्ते पर तो जाते हैं और बहुत प्रेम से और कहीं तो ऐसे कि सारा अखंड रात्रि करते हैं कई कई थोड़े लोग ऐसी है ये अद्भुत हमारे खुद का परमात्मा की आत्मा का परमात्मा स्वरूप की दादा भगवान का ये हमारा परमात्मा स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप ही है और व्यवहार से ज़्यादा भगवान थे यही व्यवहार की उनकी जैसे थे ऐसे उसके वाणी के बल वाली हमें आज्ञा मिली कि व्यवहार दृष्टि से आप अभी हो आप शुद्धात्मा हो गए लेकिन वो प्राप्त हुई आपको प्राप्ति प्राप्ति बिना हुए वो उसका रिजल्ट परिणाम कैसा आएगा तो अभी परिणाम आता जाएगा लेकिन ये खास करके दो दृष्टि की आज्ञा से जीवन जाने दो अब का शरीर और उनका व्यवहार आज का पांचवा काल का नहीं रहने देगा क्यों कि तीसरी चौथी आज्ञा है खास करके कि भाई अभी ये शरीर की विचार आवे वाणी आवे कोई भी आवे अंतकरण व बाह्यकरण वो तो कर्मकृत है कर्म से चलता है उसकी कोई क्रिया का मैं करने वाला नहीं हूँ व्यवस्थित शक्ति करने वाली है व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है जगत क्या कि मन वचन का है ऐसे हमारा शरीर है और उनका सारा फाइल स्वरूप व्यवहार है पूरा फाइलों का संभव से निटारा वो जगत है अगर हम ही नहीं है तो जगत कहाँ से आया लेकिन जो हम आज तक जगत समझते रहे कि मनुष्य मनुष्य का है जीव सृष्टि सब जैन हो तो समझते हैं फिर भी इस ढंग से समझ समझते थे वो जगत अभी वितराग भगवंत की भाषा में समझ में आया हुँ? हम्म? जो केवल ज्ञान के अत्यंत निकट है लेकिन केवल दर्शन से उनकी हमें इतनी बड़ी हमारे अंदर के जो पुण्य होगा उनके निमित्त से उनके कारण से हमें इस स्वरूप ज्ञान प्राप्ति हुई उनकी कृपा आई हुई हम्म, ऐसी है कृपा पौद्गलिक क्रिया की चीज़ नहीं है वो शुद्धात्मा की दिव्य चक्षु की क्रिया की बात है और सभी में आपको वैसी तो ओपनिंग हो गई खुली आहिस्ते आहिस्ते उसमें चली जाएगी अंदर और घरे के अंदर अपने एक दूसरे को हो तो बड़ा काम हो जाएगा इसीलिए कीर्तन भक्ति है बहुत महत्व का है बहुत महत्व का तो थोड़ी के नमस्कार विधि बुला लेते एक मिनट डेढ़ मिनट की हाँ। और पीछे कीर्तन भक्ति हमें हमेरा भाग्य है तो हमसे साहब बोलते हैं कि आप शुरू करवा दो तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए मैं शुरू करके पीछे में निकलना पड़ेगा मुझे हुँ? हम्म? और जो नाता परिवार है तो पीछे वहाँ आवे तो मुझे निकलना है व्यवहार से निकलना पड़ेगा तो आपके लिए जो थोड़ा समय लगे आधा घंटे तेईस चालीस मिनट और पीछे यहाँ जुट जाए हाँ जो आज जिसको जाना तय है वो तो जा सकते हैं नाता फैमिली के जो रहते हैं मैंने सुना कि दो दिन और रहने वाले हैं कहीं तो मतलब ऐसा सुना है हाँ? कीर्तन भक्ति करके कीर्तन भक्ति ऐसा जिसको जाना जरूर है वो तो जाते थोड़े बड़ा अच्छा है ये ऐसा निश्चय पक्का होना चाहिए हुँ? हम्म? बोलो आंखें बंद कर दें जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं प्रकट ज्ञानी पुरुष जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं प्रकट ज्ञानी पुरुष जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं आप पुत्र साहेब जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं आप पुत्र साहेब जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं सकल सभी महात्मा का जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं सकल सभी महात्माओं का जैसा शुद्धात्मा मैं श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा जैसा शुद्धात्मा हूँ मैं श्री सिमंदर स्वामी अनंत परमात्मा जैसा शुद्धात्मा हूँ कृष्ण भगवान जैसा नारायण स्वरूप शुद्धात्मा हूँ मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा नारायण स्वरूप शुद्धात्मा मैं श्री शिव परम कल्याण भावना वाला शुद्धात्मा हूँ मैं श्री शिव मैं मन वचन काया से मन वचन काया से मन वचन काया की व्यवहार की सभी क्रियाओं से मन वचन काया की सभी क्रियाओं से और और कर्मकृत कर्म मन वचन काया की मन वचन काया की सभी सभी अंतकरण की अंतकरण की एवं एवं पांच इंद्रियों वाला बाह्यकरण की पांच इंद्रियों वाला बाह्यकरण की सभी क्रियाओं से सभी क्रियाओं से संपूर्ण मुक्त संपूर्ण मुक्त ऐसा ऐसा प्रकट शुद्धात्मा हूँ प्रकट शुद्धात्मा हूँ और और मेरा ये प्रकट शुद्धात्मा पद मेरा ये प्रकट शुद्धात्मा पद मेरे खुद के लिए मेरे खुद के लिए प्रत्यक्ष हो जावे प्रत्यक्ष हो जावे उनके ही लिए उनके ही लिए आज आज ये चौबीस घंटे की अखंड कीर्तन भक्ति शुरू हो रही है चौबीस घंटे की अखंड कीर्तन भक्ति शुरू हो रही है वो उसमें उसमें मेरी भावना मेरी भावना अखंड स्वरूप से तो है ही अखंड स्वरूप से तो, तो है ही लेकिन लेकिन शरीर से जो रहा जाए ऐसी शरीर की शक्तियाँ शरीर से रहा जाए ऐसी शरीर की शक्तियाँ उनके सभी व्यवहार और उनके सभी व्यवहार मुझे न रहना दे और मुझे ना हला दे उसमें उसमें मेरी अखंड कीर्तन भक्ति खंडित नहीं होगी मेरी कीर्तन भक्ति खंडित नहीं होगी अगर मेरा निश्चय बल अखंड है तो अगर मेरा निश्चय बल अखंड है तो लेकिन उसके लिए लेकिन उसके लिए हे प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान हे प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कनु दादाजी में रहे हुए कनु दादाजी में रहे हुए सभी आप पुत्र साहेबों के अंदर रहे हुए सभी पुत्र साहेबों में रहे हुए सभी सकल संघ के महात्माओं के रहे हुए सभी सकल संघ महात्माओं में रहे हुए मुझे मुझे अखंडता से अखंडता से भाव से भाव से भाव निश्चय से भाव निश्चय से अखंड कीर्तन भक्ति में ये अखंड कीर्तन भक्ति में रह सकूं रह सकूं आप आप सब मुझे शक्ति प्रदान करें आप आप मुझे शक्ति प्रदान करें आपकी शक्ति आपकी सब सबकी सूर्या शुद्धात्म दृष्टि से आपकी सर्वशक्ति शुद्धात्म दृष्टि से प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान हे प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान हे प्रवर्तमान हाल प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान हाल प्रवर्तमान श्री दादा भगवान सभी में विद्यमान रहे हुए दादा भगवान सभी में विद्यमान रहे हुए दादा भगवान मुझे मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे ऐसी शक्ति प्रदान करे और और आपको आपको ऐसी शक्ति के लिए ही ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करके प्रार्थना करके आज आज एक कीर्तन भक्ति में ये कीर्तन भक्ति में मैं मैं प्रस्तावित होता हूँ प्रस्तावित होता हूँ और ये कीर्तन भक्ति से ही और ये कीर्तन भक्ति से ही चौबीस घंटे की अखंडता से चौबीस घंटे की अखंडता से उसमें भी उसमें भी और उसमें ही उसमें ही अवस्थित हो जाओ अवस्थित हो जाऊ कृपा करो जिसके जिसे जिसके कारण जिसके कारण व्यवस्थित शक्ति के अनुसार व्यवस्थित शक्ति के अनुसार छुटकार पाया हुआ मैं छुटकारा पाया हुआ मैं व्यवहार से छुटकार पाया हुआ मैं व्यवहार से छुटकारा पाया हुआ मैं सही ढंग से सही ढंग से यही भाव में सही भाव में छुटकारा स्वरूप से छुटकारा स्वरूप जीवन जी लू मैं जीव और व्यवस्थित शक्ति का व्यवस्थित शक्ति का करतापन करतापन मेरे शरीर को कराने वाला मेरे शरीर को चलाने वाला सही ढंग से समझ लू उसके सही ढंग से समझ ऐसी मेरी प्रार्थना है ऐसी मेरी प्रार्थना है शक्तियाँ प्रदान करो जय सच्चिदानंद जय दादा भगवान असीम जय जय तारो दादा भगवान ना असीम जय जयकार कार दादा भगवान ना असीम जय जयकार कार दादा भगवान ना असीम जय जयकार कारो અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હું દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો રાધા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान નરસિંહ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર Dada. અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા नरसिंह जय हो दादा भगवान नरसिंह जय जयकारो दादा भगवान नरसिंह जय हो दादा भगवान नरसिंह जय जयकारो दादा भगवान नरसिंह जय हो दादा भगवान नरसिंह जय जयकारो દાદા ભગવાનના અસીમ જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो જયકારો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ઓ દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ